Thank you. बात आयात का है ओपरों मुतशाबिहात तो के तो मुताबिक तरीके आमल हुकूमत होना चाहिए कुरान में जिनके दिलों में कभी और गैर तो वो

इसलिए पढ़ता है इसके बाद में कितना कितने तलाश करने की वक्त वो मकसद को साबित करना करके या कितने लोगों में पैदा करना ही मकसद वो मकसद नहीं लेकिन अल्लाह ने वादे तौर पर करना दिया वहाँ इन मदशाहत का सही रिस्क अल्लाह की वो पढ़ेंगे इसके जो कुरान पाक की गोया खबर दे दी वो तरह की वो आयात हैं उनमें से मुतशाबिहात जिसके ऊपर अकीदे की बुनियाद नहीं हो सकती मदशाहत पर अमल की बुनियाद नहीं हो सकती से उसूल और का कवानी को नहीं किया सकता लेकिन ऐसी आयात के पीछे लोग पढ़ेंगे पढ़ने का मकसद क्या होगा वो वजह बयान इतना पैदा करना मकसद होगा या अपनी मेहनत अपनी सलाहियत अपनी बरतरी और अपना दिल्ली महान जाहिर करने के लिए लोग इसके पीछे पड़ेंगे समझे जो पहले एक का सबका होता है वो तो अपनी ध्यान और सवालियत दूसरों पर वादे करने के लिए इसके पीछे पड़ते और वो पहले एक का सबका नहीं है और अवाबुनाथ का सबका वो इसके पीछे पड़ने से इतना इंतजार करता बोला दोनों सबसे की बात शायद नहीं है लेकिन क्या कितना लोग भटकाएंगे इन आयात को सामने रखकर या अपनी जहानत को साबित करने के लिए जो इस तरह की बातें करेंगे तो क्या बात असल हकीकत तक उनकी रेसारी हो जाएगी सही माना और मुराद को वो समझ पाएंगे तो आपने साफ कर दिया वहाँ या तक हकीकत तक रेसाई नहीं उसकी सही तारीफ उसका सही इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं है अब जो सही अहल रही है जिनको अल्लाह ने पहले बसीरत शरीयत की है उनका कर्ज आना क्या होगा उसका कर्ज आना कुरान ने बयान किया और आप की या आप हमारा इसका ईमान ईमानी ईमान नहीं लेकिन हम उसके पीछे नहीं हैं हमको जहाँ तक का हुक्म दिया गया है तो वहीं तक पहुँचेंगे वहीं तक हम आगे बढ़ने की कोशिश करें ये उनका सत्या हो और आगे ये कहा गया कि ये अगर के साफ साफ बयान कर दिया गया है कि कितना भी तलाश करने वाले होंगे और लोगों में इंतजार पैदा करने वाली जमात भी आयत के कानून से पैदा होगी और रात चीज के जरिए भी होंगे उनका कर्जामत दूसरा होगा ये बोल तो बोल कर बयान कर दिया तो क्या सब मानने वाले ही हो जाएंगे कुरान पाक ने इसके बारे में भी कहा आपका अगर हम आया के बारे में बयान कर रहे हैं कि जो पढ़ने वाले उसके पीछे उनका मकसद सही नहीं है तो पीछे जो पढ़ने वाले हैं और जो लोग सही फहमो बदले शरीयत का रखने वाले हैं वो लोग इसके रिश्व को कमवा नहीं वाले साफ साफ खुले अंदाज से कुरान पाक नहीं करेंगे लेकिन साफ तौर पर कुरान कह दिया कि फिर भी गोया ये दो जमातें होंगी रासदीन से की जमात होगी और इस्तेवार कितना हो सिवार ताजीरी वाली की जमात होगी क्यों नसीहत को कबूल करेंगे अहले अपनी रासदीन की रिल को गोया कुरान पाक ने रिल की प्रतिक्रिया की है तो जो रासदीन की रिल है वाकई वो है उनका जो तर्ज आम है अल्लाह के हवाले करके खामोश हो जाना और इसके अलावा जो दूसरी जमात है जो जो मुशाहरात के पीछे पड़ती है उसको तो ये अल्लाह ने ये फरमा दिया कि वो है कितना तलाश करने वाले वो है अपनी इलमी बरतरी और इलमी कौफियत को दूसरों पर वाजे करने वाले और फिर बहुत ही मुख्तार दूल्हा कुरान पाक में आगे कहा है तो अपना ना तो जिस सुनूंगा or we can uh, not question इस दुआ को मतलब ने लिखा है कि ये तफसीलात करने के बाद कुरान पाक में तो इस दुआ की तनकीद की है कि इसलिए ताकि हमारा शुमार अहले अक्ल में से हो उल अल्फाज में से हो हमको राजनीतिक फिर में से अल्लाह बना दिए और हमारे दिल के अंदर गैर और सही न पैदा की पहले दिल क्या लिया सही तो जिसके दिल में जैर है उसके बारे में कुरान ने कहा कि मुनशाजात के पीछे पर और फिर उसी से बना चाहिए जा रही है अल्लाह ताला के रब्बाना तो दिल कुलू बना जैर हमारे दिल के अंदर खड़ा है बाद अभी हदई बना या हिदायत के बाद जब सही आती है इंसान के दिल में तभी इस तरह की बात हमको तलाश और फिर आगे कहा गया रसूख भी रही अल्लाह की तरफ से एक रहमत है बहुत लना नदीन का रहमत रहमत को तकलीफ किया गया है रसूख भी रही तो गोया वापस के लिए जो शख्स होगा वो कितने के पीछे नहीं पड़े वो तशाबहत तो के पीछे नहीं पड़ेगा ये तो कुरान पाक ने मुख्तर अंदाज से ईमान की दो जमातों को बयान किया जिस तो तरह कुरान पाक के वो हिस्से हमने बनाए हैं मुहकम और मुतशाद मुहकम के सिलसिले में पूरी आज़ादी की गई है जो तुम उसूलों को अपनी जिंदगी के गुजारने के बाद से कवानीन और रात से मुतयन करो उसके ऊपर अपने अकीदे की बुनियाद रखो उस पर आमाल की बुनियाद रखो लेकिन मुतशाबहत के अंदर इस तरह की बात नहीं है वो तो वाले और उसूल की ये बात होती कि भी दो किस्में होती है एक तो वो है जो नामालूमी मानव और एक है मालूमी मानव जहाँ तक है मुराद और मकूल की बात तो मैं चाहते किसी भी खिदमत में मुराद और मकूल मालूम नहीं होती फर्क देखना होता है मुतशाबे में ये बाद मुतशाबहत के माना मालूम होते ही नहीं और बाद मुतशाबहत रहते हैं जिसके मानी मालूम जो तो है लेकिन उसकी कैफियत मालूम नहीं होती उसकी मुराद मालूम नहीं होती ऐसे मुतशाबहात जिनके माना ही मालूम नहीं है कैफियत तो मालूम ही नहीं उसकी मुराद तो मालूम ही नहीं माना तक उसके मालूम नहीं है जैसे गुरु के मुकद है कुरान पर जब एक मरतबा यहूद की एक जमात आप की हिम्मत में आई तो आप अली लाजमी किताब ला रही तरह की आयत की तिलावत फरमाई तो ग्रुप तहजीब के एतबार से उन लोगों ने अलिफ लाम मीम का नंबर निकाला इकहत्तर अलिफ का नंबर लाम का नंबर मीम का नंबर उन्होंने निकाला कि अलिफ लाम मीम जिसका नंबर होता है इकहत्तर इसका मतलब यह है कि इस उम्मत की पूरी मुद्दत बयान की गई है तो इकहत्तर का सत्तर साल के बाद ये जमात पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी जब ये जमात और ये दिन खत्म होने वाला है सत्तर साल की मुद्दत की अंदर को दाखिल ये उन्होंने के बाद निकाला हालांकि ये इसकी मालूम नहीं माना भी मालूम नहीं लेकिन अपने जहन से उसने के से माना और लफ्ज निकाला तो बाद वहाँ तो पांच इस्लाम सात नंबर उससे के लिहाज से होता है एक सौ उन्होंने कहा नहीं हो सकता नहीं एक सौ इकसठ साल तक ये रहेगी उसके बाद चली जाएगी तो तीसरे नंबर पर उसने पढ़ा अली लाम राम इसका नंबर रूप से तहकी के लिहाज से होता है दो सौ इक्कीस तो दो सौ इक्कीस हो गया कहाँ इकहत्तर एक सौ इकसठ किया हो गया दो सौ इक्कीस हुआ कि ज्यादा दो सौ इक्कीस साल में इनकी उम्र है अब उससे ज्यादा इनकी उम्र चलने वाली नहीं है ज्यादा ऐसी जमात और जो रसूल भेजे गए हैं इनकी इतना पर देने कोई खैर नहीं इसका नंबर रूप कर्जी के जहाज से होता है दो सौ इकहत्तर ये बातें चले गए तो उन लोगों ने खुद अपनी जुबान से कहा कि अब तो मामला हमारे ऊपर मुशरबा हो गया किसको दें पहले वाले को दें आगे वाले को दें

बल्कि मुराद की है इससे मालूम ये हुआ कि मुराद इसकी मुतन नहीं माना इसका मालूम है अगर माना इसका मालूम होगा तो नदी गली हरस्ता आएगा जो उसने कहा था उस पर सभी समान ऐसे हैं जिनके मान ही मालूम नहीं लेकिन बाद आया मुतशाबहात नहीं पर करती है जिनके मानी तो मालूम है लेकिन कैसे उसकी क्या है हुआ उसकी क्या है अल्लाह ताला ने इसका मतलब क्या दिया वो मतलब सच से नहीं हो सकती इसकी मिसाल में जैसे अल्लाह के लिए जल का सबूत है अल्लाह ताला के लिए वजह का सबूत है अल्लाह के लिए साफ का सबूत है और बाप के माना जो है हल्की लोगों के मालूम कि बाप के माना आता है सूर्य के इधर के माना वज के माना चेहरे माना मालूम लेकिन इस माना की वो मुराद जाहिर के हमारे सामने है इंसान के इंसान के पास जिसे यश कहा जाता है जिसे वज कहा जाता है जिसे सांस कहा जाता है जिसे कदम कहा जाता है वादी कदम का भी इस्तेमाल उसमें आ रहा है तो कदम इसके लिए इसका इतलाफ किया जाता है इंसान के किसी उपयोग ऊपर या अल्लाह के लिए भी उसी तरह का कदम जैसे इंसान का कदम उसी तरह अल्लाह का कदम जैसे इंसान का चेहरा उसी तरह से अल्लाह का भी चेहरा जैसे इंसान का हाथ उसी तरह से अल्लाह का भी हाथ और अल्लाह इस बात है कैफियत मालूम है माना तो मालूम है लेकिन इसका भी ये अगर गाफिल बानी की तरफ किया जाए तो वहां पर हार मान लेना ये कह देना है कि हमको मालूम नहीं है और ये चीज ओलमा ने अपनी तरफ से नहीं की वो रिवायत नबी करीम बाद रिवायतों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु के वास्ता से रिवायत करती हैं हजरत मुसम्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था ये चीज़ मशहूर है इमाम मालिक की तरफ तो उनकी मस्जिद में ये सवाल आया कि इस्तेवा के क्या मान उसकी कैफियत क्या है रिवायतों में आता है बल्कि इमाम मालिक है उसने इस बात को खास तौर से जिक्र किया है कि जैसे ही ये सवाल किया गया इमाम मालिक रमतुल्लाह की मस्जिद में कि इस्तेवा के क्या माना है आता है कि वो माना कर चुका है ऐसा सवाल कभी किसी ने उनसे किया नहीं था पहली मतलब सवाल था कर चुका दिया रिवायतों में आता हर रोजा रोजा उनके ऊपर पसीने वो पसीने से शराब हो सवाल की इस क्या नाम है नजाकत की वजह से सवाल की नजाकत को देख करके आपके ऊपर आपके जिसम के ऊपर ओटू हो गया फलन हो गया क्या पसीना पसीने से भी कुछ तो शराब हो और घोड़ी में सर चुकाने के बाद फिर जब उठाए उसकी वही कारण की चिंता फरमाया माना मान मानक इसका मालूम है सेवा की मानक क्या है लेकिन कैफियत जो तुम सवाल कर रहे हो कैफियत का ताल्लुक मजबूल इसका माना मालूम है इस कैफियत की वजाहत नहीं कर और साथ साथ आगे क्या फरमाया बस सवाल आना फिजा ये में नई बात पैदा करना है कैफियत के मुताबिक सवाल है कैफियत के मुताबिक इस्तेमाल करना यह है बिदा नई बात पैदा करना दीन से और फिर उन्होंने हुक्म दिया कि इस शख्स को हमारी मस्जिद से निकाल तो इस लायक नहीं है कि हमारी मस्जिद में पहुंचे तो हो रहा है यह है दौर खैरूनी होने का और इस दौर में एक से एक पहले ईमा मौजूद थे कुरान तो पाक की आयत से मुताबिक की बात है ये कोई दूसरी बात नहीं है कुरान पाक से एक जगह नहीं सात जगहों पर इस्तेमाल का जिक्र है और उसी आयत के समझने के साथ उसे सवाल हुआ ऐसा नहीं कोई दूसरी चीज के मुताबिक है कोई और हदीस का कोई बदला था उसको मालूम किया मालूम करने वाला कुरान पाक की आयत के मुताबिक मालूम करना रहा है कि इस्तेमाल मगर उसका जवाब देने के बजाय आपने वहीं पर कह दिया वक्त वालो अनाथ और उसको इतना भी बर्दाश्त नहीं किया कि अपनी मस्जिद में बैठने देते बल्कि मस्जिद से निकाल इससे मालूम होता है कि नज़ाकत कितनी है मसले के अंदर मैं नज़ाकत को बोलना चाहूँगा कि नज़ाकत इस मसले की कितनी है उसका एहसास मतलब तो कितना और बेहद ही यही जुमला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की नकल करती है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इस्तिवा माना हो मालूम बल सब कैफियत हुआ मंजूर वस्तु वालो अना बिदा के बारे में सवाल करना ही दीन में एक नई बात निकाल मौलाना थानवी रमतुल्लाह अलैह से इसी तरह का एक सवाल किया ये वो शब्द हैं एक साल ये कहते हैं कि अल्लाह तारा हर ही पर नहीं है बल्कि हर जगह हाजिर और नाजिर है और दूसरा शब्द ये कहता है कि बस अल्लाह तारा हर ही पर है और कहीं नहीं नहीं ये जुमला नहीं और कहीं नहीं अल्लाह तारा अर्श पर दोनों में से किसकी बात नहीं के पास क्या जो तो सवाल आया ये शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं हर जगह हाजिर नाजिर है हर जगह मौजूद है और दूसरा शख्स ये कह रहा है कि अल्लाह ताला अर्श पर है दोनों में से किसकी बात नहीं तो उन्होंने अपने जवाब की जो इब्तदा की है वो इस वजह से कि ये मामला थोड़ा नाजुक है यहाँ से इब्तदा की अपने जवाब ये ये सवाल बड़ा नाजुक है लेकिन वो उनके खास ऐसे ताल्लुक से उन्होंने सवाल किया था तो उनके ताल्लुक का वास्ता देते हुए कहा कि मगर आपकी दिलचस्पी और आप रिस्क को देख करके मैं इसका जवाब देता हूँ मेरा कहना ये इसका जवाब मुझे देना नहीं चाहिए नाजुक मसला है इसमें गुफ्तु नहीं करना चाहिए लेकिन आपके रिस्क को देखकर बल्कि मैं सोच रहा हूँ वो भी अगर आपके सामने आ जाए तो बेहतर है कि उसमें सवाल ये था कि हम में से एक फरीक कहता है कि खुदा किसी मकाम पर जलवा फरमा नहीं किसी मकाम पर यानी अर्श के ऊपर ही जलवा फरमा नहीं बल्कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है ये एक शख्स कहता है अब रहा ये कि कैसे और किस तरह पर कैसे और किस तरह है इस ताल्लुक से वो कहता है कि हमारे इस रास्ते पर कैसे है किस तरह है हमको नहीं मालूम लेकिन कितना है कि अल्लाह ताला हर जगह है अर्श पर ही जलवा फरमानी है और दूसरा फरीक कहता है कि अल्लाह ताला अर्श मालना पर है इनमें से कौन सा फरीक हम करें ये सवाल का सवाल कौन अली क्या गया उस उन्होंने जो जवाब लिखा है वो ये कि मसला नाजुक है इसलिए इसमें बहस जायज नहीं मसला नाजुक है इसमें बहस जायज नहीं इसका वही है मोहम्मद लगी नबी कलूब इन उन्होंने कि इतने बहन जायज नहीं लेकिन शौक देख कर अंत करता हूँ उनके लगाव उनके जिस तरह को देख करके उन्होंने कहा कि शौक देख कर अंत करता हूँ कि फरीज अव्वल की मुराद अदा ये है कि अल्लाह ताला हर जगह हवा की तरह फैला हुआ है जैसे हवा आने का कहीं भी है कमरे के अंदर भी है बाहर भी है और इंसान के जिन के अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है अगर ये समझ रहा है के ऐसे ही दुनिया के हर हर में हर जगह आदि आगे है जैसा के हवा फैलती है तो हवा क्या हो गया जिस तो बोला उसने मुशाबत दे दी अल्लाह को जिसम जैसे हवा जिसमें है ऐसे ही अल्लाह को भी एक किस्म करार दे दिया और जैसे हवा फैलेंगी हर जगह के अंदर वैसे ही अल्लाह को भी पहला हवा हर जगह करार दे दिया तो कह रहे हैं सबको गलत अगर अच्छा, हवा की तरह हर जगह फैला हुआ कोई मानना अल्लाह को तब तो ये गलत है क्यों से क्योंकि इससे अल्लाह वाला का मतानी होना लाजिम था मकानी यानी मेरा एक जगह का पौधा है जैसे हवा जगह का पौधा है अगर जगह रहे तो हवा है बिना अगर नहीं हवा अगर किसी जगह से इंसान हवा को निकाल देना चाहे निकाल नहीं सकता है तो इससे क्या होगा कि अगर हवा की तरह मानेंगे तो जैसे हवा जिस हवा के लिए भी जैसे हवा जिसम का मोहताज मकान का मोहताज ऐसे ही हवा ताला भी मकान का मोहताज हो जाएगा और इख्तियार अल्लाह की जात की नहीं है अल्लाह का क्या है अल्लाह तो मलिक अल्लाह समर्थ और अगर ये मतलब है कि उसकी तजली जैसी के उसकी जाते मुनजर की शान के देवार अल्लाह की तजली उसकी शान शान वो उस शान शान तजली के साथ हर जगह है तो फिर ये आश के साथ भाग अल्लाह अपनी बदलगी के साथ हर जगह है ये बात कहा है लेकिन उसकी कैफियत कैसी कैफियत का एक इख्तियारा नहीं है लेकिन अल्लाह के शान शान जो बदलती है उस एतबार में अल्लाह ताला हर जगह है तो कह रहे हैं कि ये बदला किसी नकल फतली दलालत या इसकी दलील अकली के खिलाफ अगर ये माना जाए तो अल्लाह ताला हर जगह है अपनी तजल्ली के लिहाज से तजल्ली के शान शान तजल्ली की ही हम कैसे निकाल सकते तो ये दावा उनका सही है कि अल्लाह हर जगह हाजिर होना इसी तरह कहते हैं कि फरीक सानी की अगर मुराद है कि अल्लाह के अर्श अल्लाह के लिए मकान और हयद है जैसे कुर्सी इंसान के लिए हयद और मकान बनती है जैसे कमरा और गुजरा इंसान के लिए हयद और मकान इसी तरह का हयद और मकान मान रहा है अल्लाह की जात के वास्ते अर्श को कह रहे हैं है कि इसलिए नफ्स लाजमान है न क्या लागी माता कि अल्लाह ताला का मकान का मोहताज न लगना और अल्लाह ताला मकान का मोहताज इसलिए उनकी बात कर और अगर उनकी मुराद ये है कि अल्लाह की कुछ खसूसियत हर्ष के साथ ऐसी है जो हमारे इजराक से कहीं बाला है ये अगर उनका मकसद है अर्श होने का तो अल्लाह का ताल्लुक अर्श से भी है लेकिन ताल्लुक कैसा वो हमारे पहन से बाधा तक है तो, तो कह दिया है नहीं का ही शही अल्लाह के मिसल के मिसल की तरह भी कोई नहीं है ही सिर्फ ये नहीं अल्लाह अल्लाह का कोई मिसल नहीं है बल्कि काफ ऊपर दाखिल कर दिया गया नहीं का ही अल्लाह के मिस्र का मिस्र भी कोई नहीं ये जाए तो उसका मिस्र तो अगर ये कहे कि हम उससे क्या है बिल्कुल हमारा फर्क उससे हमारा फर्क वहां तक नहीं पहुंच सकता अगर ये है उसका मकसद कि अल्लाह का अर्श से ताल्लुक है लेकिन उसकी कैफियत कैसी है ये हमको मालूम नहीं हमारे टाइम से बाला सर क्यों तो उनकी ये बात ही गलत है तो यार एक सीधा सारा सवाल किया गया कि दो पंडित है एक का कहना अल्लाह हर जगह हाजिर होना है एक का कहना अल्लाह हाजिर इतना सीधा सारा सवाल को इतना सीरियस ले रहे हैं कि मसला नाजुक है बहस करना जायज नहीं है और अगर उनका मतलब ये है तो ये हो सकता है इनका मतलब अगर ये है तो ये हो सकता है ये इतना होने के बावजूद आगे वो ठोक अंदाज से नहीं कर सके कि उनकी बात सही है और इनकी बात गलत है वो ठोक अंदाज से वो भी नहीं कह सकते उनकी मुराद अगर ये है तो गलत ये मुराद है तो सही इसी तरह इनकी मुराद अगर ये है तो गलत ये है तो सही आज इस मसले को गली कूदों का मसला बनाया गया सरलते से इस मसले को वो आदमी जो शरीयत के मुतशाजहात क्या है और मौसम क्या है इसका इख्तियार नहीं जिसको ये पता नहीं है कि हमको मुतशाजहात के सिलसिले में क्या कर्जावन इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और मौसम के मुताबिक मुझे क्या हिदायत दी है मालूम नहीं लेकिन आयात के मुताबिक है इसका मतलब तो ये हुआ कि गोया हमारा इमाम मालिक से भी बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया उनसे जब सवाल किया गया तो पसीना से शराब हो गए गर्दन झुका दी उन्होंने जवाब नहीं दे पाए और मसले की नजाकत का एहसास करने से वो वो अंदाज से करवा दिया कि माना को तो इसका मालूम है इसके बाद इसको कहते लेकिन अगर तुम हमको हमसे पूछो कि इसकी कैफियत क्या है हम कैफियत की वजात करने से बिल्कुल मालूम मैंने इससे कोई हिम्मत नहीं कर सका कि ऐसा पिता कैसे बोल तो पता चलता है में वो अकीदे की बात है अकीदे पर उमूमन बीमारी ईमान हुआ करता आज इल्म उनके हकीकत हाल से वाकिफ हुआ करते थे तो उनके सामने मसले की हकीकत हुआ करती थी इसलिए वो उससे पूरी तरह अपने आप को वाकिफ होकर अवाम नाथ से उस मसले को मिला और अवामी नाथ को इस बात की हिदायत दी जाती थी कि तुम अकायद के बाद में इजमान को अपनाओ नहीं तो अकायद के बाद में तफसीलात के पीछे अगर इंसान जाएगा तो फिर कहीं भी वो संभल नहीं पाए अकायद के मुताबिक उन पर तो छेड़ी की एक मरतबा तबीर नामी शख्स हजरत उमर के अल्लाह नाम का जमाना था वहां के गवर्नर को हुक्म दिया गया कि इनको मेरे पास भेज जैसे उनके पास भेजे तो कुछ भी उनसे सवाल जवाब नहीं किया बल्कि उनका उनको गुर्रे लगाने गुर्रे लगाते लगाते जब वो क्या बेहोश हो गया और फिर उसको ये फायदा हुआ तो इस फायदा के बाद उसने ये कहा कि हजरत अगर आपको मारना मकसद है तो ठीक है मारी मारिए लेकिन अगर मकसद ये है कि हमारे दिमाग से अन्नास निकल जाए तो अन्नास निकल हमारे दिमाग से अन्नास निकल गया जब हजरत उमर ने भी ईमान कर दिया कि वापस फिर इनको इजाज़त दे दी गई थी है अपने मकाम पर जाओ और वहां गवर्नर को ये हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान कर दो कि इससे कोई न मिले एक महीने तक इस तरह की पाबंदी उस पर रही एक महीने तक उनके देख लिया कि हालत एक ही है तो सिर्फ पाबंदी को आना नहीं गया हमारे के बाद में अगर कोई गुफ्तु करे असल इलाज यही है उसका इलाज ये नहीं है कि दलाल के जरिए उसको खामोश किया जाए क्योंकि दलाल के जरिए अगर खामोश किया जाएगा तो अम्मा ताला की कैफियत को अम्मा ताला के इस्तेमाल को सही तौर पर समझाया नहीं जा सकता इसीलिए हदीब ने खास तौर से कहा गया है तफक करूँ की आला इला वाला तफक करूँ किला अल्लाह की गाद से और साफ बना किया गया उसका अल्लाह की जो नेमत है अल्लाह ने अपने इनाम जो इंसानों पर और दीगर मखलूक के ऊपर छोड़ रखे हैं उन उन नेमतों को और उन चीज़ों को सुनने वो करो तो। लेकिन यहाँ आ जाए अल्लाह की बात से मुताबिक कोई चीज वहाँ पर तो पंथ है और हदीस में खास तौर पर शराब के साथ बयान किया गया कि सवाल का एक सिलसिला तुम्हारे जहन के अंदर शैतान आगे करेगा तुम जिस सवाल का भी जवाब दोगे तो आखिर वाला सवाल किस तुम्हारे जहन में आएगा हत्या के पहुंचाते पहुंचाते तुमको यहाँ तक पहुंचाएगा कि सब का आदेश जब अल्लाह है तो ये बताओ तुम्हारे उसमें से ये साबित हुआ कि अल्लाह का भी तो कोई खालिद हुआ पहुंचाएगा वहां तक तुम्हें और वहाँ अगर पहुंच गए और वहाँ इस तरह का सवाल तुम्हारा कायम हुआ और उस पर सोचने लगे गया गौर फिक्र करना आला में तो गौर करो उनकी में गौर लेकिन अल्लाह की रात में गौर फिक्र इस सवाल के बदले में गौर फिक्र तो करना होगा इसके बारे में अल्लाह की रात के बारे में कि अल्लाह की रात कैसी है अल्लाह की बात इस्तेवा अर्श के साथ जो खास ताल्लुक है इस्तेवा अर्श की कैफियत क्या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे कुरान पाक ने कह दिया नहीं कर कभी नहीं सही हमारी हाथ में आप कह नहीं सकती ये किसी भी दर्जे में जब अल्लाह ताला किसी मखलूक के मुशाबे भी कम से कम होगा तो हम उस इस्तेवा के मफहूम को समझने की कोशिश कर हैं जब अल्लाह ताला किसी मखलूक के मुशादे उसके जिन है ही नहीं उसकी इस इस्तेवाब की नस्बत अल्लाह ताला की तरफ करके ये समझना तो हम इसके मखलूक को समझ जाएंगे ये इसकी असल तरीका क्या है कुरान पाक में आया है तबाह वाला राश हमारा ईश्वर की ईमान कुरान पाक में आया है ऐनमा कसूनी वमाकुम इसकी कैफियत क्या है इस अलल है इसकी कैफियत क्या है दोनों में से किसी की कैफियत को मालूम करना शराय जायज नहीं हुआ माकुम हमारा है कैसे है यहाँ पर भी रही है मानव मालूम कैफियत मालूम इस सवाल नाश मानव मालूम कैफियत मालूम वहां भी वही जवाब यहाँ पर हमारे हजरात की बात तो आज ये करते हैं मैं वो दो अंदाज से बात कीजिए बात ऐसी कीजिए कि समझ में आ जाए हम एक गैर महसूस बात को ऐसी जात को जिसकी कोई मिस्र दुनिया में है ही नहीं उस जात से एक चीज का ताल्लुक है मसलन वज का यद का इस्तेवा का मैयत का ये ताल्लुक है उस जात का अब उस ताल्लुक को हम को समझाने का पावन मुझे बन रहा है कि आप इसको समझा दें कोई इसकी सही स्वरूप को क्यों तो हमने खुद उसका जवाब दिया नहीं का तो कभी से ही सही तो न तो इस त्यौहार को सही तौर से समझा जा सकता न हुआ मासूम सही नमा तस्वीर उसको सही तौर से समझा जा सकता वराते होना चाहिए यकून होना आना ईमान लाना उनके ऊपर ये है असल मकसद ईमान के साथ साथ हम ये चाहें कि उसका मालूम माल भी हमारे जहन में आ जाए तो इंसान उनके मानूस है मातियात उसको जब मातियात से समझा जाएगा तो और ये अल्लाह ताला मातियात से मामा तो अल्लाह ताला मातियात से मामा है तो फिर हम कैसे उसको समझा जाए सकते चीज़ों को तो इंसान का जहन कबूल कर लेता है गैर मादी चीज़ों को कबूल नहीं करता अल्लाह है तो अल्लाह की शक्ल पे कैसा है एक इंसान जब सोचना शुरू करेगा तो उसी को कहा गया कि ईमान उसका मुकदम नहीं है ये तो मैंने कोई दोनों चीज कर तो ली थी ये मसले की नजाकत कहती है और इस मसले के पीछे जो तो हम पढ़ते हैं तो हमको ही इस मसले की नजाकत का एहसास होना ये मसला इतना आसान नहीं है जैसा कि दीगर कुरान में बयान करता मौसम आया में जो बातें हैं उस तरह की बातें जिनकी आप आयात समझा लेते हैं उस पर बहस कर लेते हैं मिलोवाल कर लेते हैं कोई असलाफी मसला है अपने दराज रखते देते मुखालिफ के दराज को भी हम बयान कर देते हैं और शरों बस के साथ घंटों घंटों हम बहस कर लेते हैं ये मसला उस कबीर से नहीं है ये मसला है मुतशाबहत के कबीर और मुतशाबहत के बारे में वाजे अंदाज से इस वक्त का कहना है कि इसके पीछे पढ़ना जायज नहीं है जो पढ़ता है सही नियत से नहीं पढ़ता उसको आखिर बहुत शाद है आपको करने का कुछ न कुछ मकसद पूरे पता लगता तभी तो पाबंदी लगा दी गई कि उसके पीछे न पड़ो तो इसलिए इसकी नजाकत का एहसास हम सबको होना और ये कहना वो दो बर्दाश्त से बयान कर दो कभी भी को अंदाज से बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसान मासी जहन ही उसका है मासी जब मासी चीजों से मुशावरत दे करके समझाई जाएगी तभी उसके जहन से सही हो सकता है और जाहिर है कि अल्लाह की मासी नहीं अल्लाह का जिन चीजों से ताल्लुक है उन चीजों से यानी न घर से इसके ये भी बताना तो इसका ये चीज की हैसियत वो बात की नहीं ताल्लुक कैसा है उस ताल्लुक की कैफियत को बयान नहीं कर सकते हाँ अर्श है वो मानती है वजह है जो हमारे सामने वज का निकाम है वो मानती है जो हमारे सामने यज का किताब है ये मानती है लेकिन अल्लाह के लिए यही सारी चीजें हैं इसी कैफियत के साथ है ये तो कोई दावा नहीं अल्लाह के शान शाह अब हम अपने असल मौजूद पे आते हैं क्योंकि ये संगीत के ताल्लुक से हमारे जहन में रहना बहुत जरूरी है हम इसको इतना आसान न समझें और धरले से इस मसले के ऊपर कोई मिसाल देकर के समझाने की कोशिश न करें दोनों तरह के रसूस हैं हम दोनों तरह के रसूस को मानते हैं हुआ मारूम को भी मानते हैं और इस सवाल को भी मानते हैं औरत को इस्तेमा और अश को का मुनकिन है हम उसको काफिर भी कहेंगे वो काफिर कहेंगे इस्तेमाल और अश कुरान पाक की नस है कतियुल सबूत है कतियुल जवाब हम नहीं कहेंगे लेकिन कतियुल सबूत है कतियुल सबूत आए कि अगर कोई शख्स उसका इनकार कर दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है वो शख्स यकीन काफिर है खुला शकुल तो इस्तेमाल अर्श का हम इनकार नहीं करते इस्तेमाल अर्श है अल्लाह जात के वास्ते साबित अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल आश ही मानते लेकिन इस्तेमाल आश की कैफियत को कोई कहे समझाने के लिए कोई नहीं समझा सकता है अल्लाह तला का ताल्लुक हज से जैसे खाने कावा के मुताबिक आता है कि खाने कावा अल्लाह ताला के तजल्ली गाह लेकिन उस तजल्ली को हम समझाना चाहें कि जैसे हम अपने इस कमरे के अंदर बैठे हैं बैठा हुआ है ये हमें समझाए हमारा ईमानी के मान लिया मकान मान तरजीब के साथ अब मौजूद पे नजाकत हमारे सामने रहे इसमें अहले के दरमियान कोई लंबी चोरी इजमाली अकीदा था अल्लाह अश कर है अल्लाह ने अपने लिए कहा हुआ बात में अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां भी तुम रहो अल्लाह तुम्हारे साथ ना नफा इन हबले वरी इस पर भी हमारा ईमान अल्लाह ताला हबले वरी से भी खरीद कर ली किसी भी नस का अहले इल्म ने कभी भी इनकार नहीं और आज भी अहले हक और राष्ट्र शीर की लड़ाई

अतलाक के सामने आता था तो जवाब दे देते मालूम इस बदले में पहले सुन्नत व जमात का ये कहना है कि कुरान पाक की नसूल वो रहेगी एक लक्ष्य ये है कि तो अल्लाह ताला अश पर है और एक दो आयत नहीं सात आयात होती है जिसमें सराहत के साथ तालिया इस्तेमाल अश्वत है अहादीस भी इस ताल्लुक से हैं जिसमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला अश पर है ये इनकी आयात हैं जितनी अहादीस हैं उन सारी अहादीस से जो साबित होता है कि अल्लाह ताला अश पर है इसका कोई कार्य हम में से दुखी नहीं है समाज में से कोई दुखी नहीं सब इस लक्ष्य को मानते हैं और उसके साथ वो ये कहते हैं कि अल्लाह का अर्श से एक ताल्लुक है खास हाँ। लेकिन कैसा ताल्लुक जैसे हम इस कमरे के अंदर और अर्श के ऊपर बैठे हुए हैं ऐसे ही अल्लाह ताला अपने आश पर बैठा हुआ है तो उस पर कामयाब आप कहते हैं कि किस कैफियत के साथ मानिए इस कैफियत के साथ अगर अल्लाह ताला को माना जाए तो अल्लाह के लिए लाजम आएगा और अल्लाह ताला का एक मकान का पौधा होना लाजम है और अल्लाह ताला को मकान का भी एहतियात नहीं है अल्लाह मानी भी नहीं है लेकिन ये तमाम अर्श का जिक्र नजूर में है हम इसको मानते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है लेकिन हमारी तरह नहीं अल्लाह अपने शान शान के लेकिन उसी के साथ साथ अल्लाह ताला हर जगह की लेकिन उसको तो हाजिर नाजिर होने के साथ साथ इस तरह अलग अर्श भी है यह अलग क्या है इस तमाम अगर अर्श के साथ हर जगह आजो नाजिर है कैसे है ये नहीं क्यों मानते हैं नत में क्यों मानते हैं नत में दोनों बातें इसलिए हम दोनों बातें मानते हैं कैसे है नहीं मानते ये आने में तो प्रमाण लेकिन इसलिए सहमिया जब से आए उससे पहले नहीं और इब्न सहमिया के मुताबिक ओलमा ने लिखा के उनका सफर नहीं समझे आज उसी तफरुज को लिए हुए हंगामे हुए इसलिए सहमिया का सफर है इसलिए सहमिया से पहले किसी ने भी वैसा जवाब नहीं किया था जैसा कि सहमिया ने किया पहले पहले यही था अल्लाह के लिए इस्तेमाल आश भी है अल्लाह के लिए हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से रसूस भी है इसलिए हम इस्तेमाल आश के साथ साथ अल्लाह को हाजिर और नाजिर भी मानेंगे यही अकीदा चला रहा इस अकीदे में पहली मरतबा जो बुनियादी फर्क आया वो इसने तहमिया से इसने तहमिया ने यह कहा तो अल्लाह ताला में अपनी किताब उन्होंने मुझे जरा शुभा था कि इसमें तहनिया इलमी लिहाज से बड़ा ऊंचा मकाम है बल्कि मौलाना अनवर शाह तस्वीर लिखा है कि इलमी मकाम उनका ऐसा है कि अगर उनको हम देखना चाहें तो हमारी कॉपी गिर जाती एतराफ इतना है तो मुझे ये हुआ कि सेहत के वो कायल भी है कि नहीं दूसरे हजरात ने तो लिखा है लेकिन मुझे तजस्स ये हुआ कि खुद उनकी तहरीर में मुझे ये बात कि वो जैसे हो उनके बारे में उन्होंने लिखा है प्रार्थना की किताब में कि अल्लाह ताला जैसे हो उनमें और जो लोग इसका इनकार करते हैं उसको उन्होंने रद्द किया ऐसा भी नहीं कि एक उनका लेकर चले गए हो सकता है कि बेखानी में किया हो ऐसा नहीं बल्कि तरजीब भी उन्होंने की है कि जो लोग कहते हलू में होने के कायल नहीं है ऊपर प्रतीक और भाई है जिहाद जो हमारे फलसफा की किताबों में किताबों में पढ़ाई जाती है तो जिहाद में से किसी की तरफ किसी को मुकैद कर देना या उसको एक हिरन के साथ साफ कर देना होगा जिसमानी होना ना तो जिहद ये पाए हैं और दूसरी बात के क्या कार्य है कि अल्लाह ताला अर्श पर है जितना बड़ा अर्श है उतने ही अल्लाह ताला उससे कम भी नहीं है उससे ज्यादा भी नहीं है दोनों बातें एक को तो जैसे उर्दू में दूसरा अल्लाह ताला अर्श पर है कितना बड़ा है हाँ, जितना बड़ा अर्श उतना ही बड़ा अल्लाह उससे न छोटा न उससे बड़ा तो क्या अर्श पर अल्लाह ताला है तो बकिया जगहों पर अल्लाह है कि नहीं उन्होंने साफ इकरार किया कि अल्लाह बकिया जगहों पर नहीं ये तीन बातें हमारे ध्यान एक तो ये अल्लाह कहते हैं जैसे मौजूद है दूसरी बात ये बोलते हैं कि अल्लाह अश पर है और अश के बिल्कुल बराबर अश अगर दस फीट का है तो अल्लाह भी क्या मतलब तो कहा जा रहा है कि के बिल्कुल मुताबिक अर्श से कम भी नहीं आज से ज्यादा भी नहीं तो अर्श दस फीट का है तो अश के मुताबिक तो को मालूम की की तो अर्श के मुताबिक पूरे आसमान और जमीन को तो घेरे हुआ तो हम उसको एक मिसाल के तौर पर एक महसूस शक्ल में समझना चाह रहे हैं कि अल्लाह अगर अर्श है दस फीट का पूरा तो अल्लाह ही है दस फीट का अगर अगर अर्श को मान लिया जाए तो पचास फीट का है अल्लाह ताला की पचास फीट का तो अगर अर्श के बिल्कुल मुताबिक मान लिया जाए तो का मतलब तो ये हुआ कि अर्श है जिस जिस्म के मुताबिक जो चीज हो गई बराबर जो चीज हो गई वो भी जिसमानी हो गई अल्लाह के लिए गोया घरे पड़ता उन्होंने मान अगर के वो वाक्य बड़ा मशहूर है तो लिखने सैनिया की तरफ मजबूत करते हैं अगर के तारीख लिहाज से उसका इनकार भी किया गया एक बार तो अल्लाह इतने तहवील बजूता ने अपने सफर में इनकार सफरनामे में के मिम्बर पर बैठ करके तकलीफ फरमा रहे थे इतने सैनिया तो उसी दौरान एक साहिब ने सवाल कर दिया कि जो आता है कि अल्लाह ताला आखिर रात में नजूल फरमाता है और बंदों से मुखातब होकर के फरमाता है